अल्लाह वो है जिसने तुम्हें एक चांद से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी बनाई ताकि वो उसके पास आकर तस्कीन हासिल करे फिर जब मर्द ने औरत को ढांक लिया तो औरत ने हमल का एक हल्का सा बोझ उठा लिया जिसे लेकर वो चलती फिरती रही फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों मियां बीवी ने अपने परवरदिगार अल्लाह से दुआ की कि अगर तूने हमें तंदुरुस्त औलाद दी तो हम जरूर बिल जरूर तेरा शुक्र अदा करेंगे